क्या क्या समझ माया बोलिए जो भोग रूप में उभर रहे हैं वो संस्कार बनाए पहले भोग भोगे उतना ही कष्ट उठा उठा के हम उनको रोकने के लिए प्रयासशील है उतना ही समय लगेगा उतना ही हमको दंड भोगना पड़ रहा है जितना हमने उल्टा किया था कम किया हो तो कम भोगना पड़ेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी को इतना दंड नहीं भोगना पड़ेगा जितना कि हमको भोगना पड़ेगा क्या समझ में आया नहीं आया समझ मन आदि को जीतने में संघर्ष में स्वामी दयान सरस्वती को उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा जितना उससे विपरीत लोगों को भोगना पड़ेगा वहां जाने के लिए अब समझ में आया है जी क्यों संदीप जी आ रहा है समझ जितना जितना जो उल्टा चलेगा <laughs> उतना उतना लौट के आने में मनादी को जीतने के लिए जो जो संघर्ष करना पड़ रहा है हम्म। वह पूर्व जन्मों का फल है संस्कार बनाए वो तो उनको भोगना पड़ेगा वो इतना ही मेहनत इतना कष्ट उल्टे संस्कार बनाए हैं अविद्या इकट्ठी की है उसको हटाने के लिए एक प्रकार का एक फल के रूप में आ रहा है सामने एक प्रकार का है ये एक शैली दूसरी है ये जितना वो बिगड़ा है उतना ही उसको उल्टा जाने में मेहनत और परिश्रम और ताक करना पड़ रहा है वो ना करता तो ये भयंकर कष्ट ने उठाना पड़ता इतना आप किसी एक व्यक्ति से विरोध करो झगड़ा करो द्वेष कर लो कल्पना करते हैं कर दो कर डाला आपने वेश हो गया तू तू मैं मैं हो गई और उसको देखते ही बड़ा क्रोध आता है क्यों साधक जी <laughs> अब इसने पहले तो आदत बना ली उसने क्रोध करने की बनाता रहा पहले भी बनाई फिर भी बनाई आज भी बना ली अब कहते इसको बैर भाव को छोड़ो इसके छोड़े बिना कहां समाधि में जाओगे अहिंसा का पालन सार्वभौम रूप में करो अब साधक जी उसको करना चाहते वो फिर उखड़ के आ जाता है वेद मुनि जी करना चाहते वो फिर उखड़ के आ जाता है अब भले व्यक्ति पहले इसको पैदा क्यों किया था आपने एक प्रकार परिणाम भोगना पड़ रहा वो आता ना इंद्रियों के विषय में जितना भोगों का अभ्यास करोगे उतना इंद्रियों में उत्तेजना होगी वो परिणाम दुख तो एक बात को याद रखिए ऐसे क्षेत्र में चलने के लिए ऐसे क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे क्षेत्र में निर्भीकता के लिए व्यक्ति को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए अब क्या समझ में आया कुछ संस्कारों की अधिकता में आ, सफलता को कम पाते हुए व्यक्ति को निराश नहीं हो जाना चाहिए नहीं तो वो व्यक्ति वहीं मार खाएगा वहीं लुटकेगा निराशावादी हुआ और निराश आई और आशावादी बना रहा तो वो जीत जाएगा समय लगेगा ये अलग बात है निराशावादी बनने से कोई लाभ होने वाला नहीं हानि के अतिरिक्त हानि हानि होगी कितने ही लोग हैं अपने विषय में भिन्न भिन्न विषयों में उनको विफलता मिलती है विफल हो गई चाहे वो व्यवसाय का भी क्यों ना हो कोई भी विषय क्यों ना हो और वो झट निराशावादी होकर बैठ जाते और वहीं बस लुट गए लुट गए आगे कोई सांस नहीं कोई प्रयत्न नहीं कोई उन्नति का मतलब ही कुछ नहीं बस या तो पागल हो जाएगा वो या विकसित मन हो जाएगा या भाई जैसा है ऐसा भाई गुजारा हो रहा है ऐसा होता रहेगा जैसा जीवन है वैसा जीवन है वह कुछ उन्नति की बात ही नहीं अब विराम मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों आपने एक बात सुनी थी कल कि व्यक्ति को निराशावादी कभी भी नहीं होना चाहिए बात को हम थोड़े रूप में कहना चाहें तो उत्तम पदार्थों की प्राप्ति और बुरे पदार्थ दुर्गुणों के छोड़ने में चाहे जितनी बार भी व्यक्ति को विफलता मिले परंतु निराशावादी नहीं होना चाहिए पूरे क्षेत्र में ये नियम लागू होता है दोषों के छोड़ने में कितनी भी बार व्यक्ति विफल क्यों न हो जावे परंतु यह नहीं मानना चाहिए कि ये दोष मुझसे दूर नहीं होंगे समझ में आ गया गुणों की प्राप्ति में चाहे जितनी बार भी व्यक्ति विफल हो जावे परंतु यह नहीं मानना चाहिए कि मैं गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता परंतु दोनों क्षेत्रों में संभव कोटि तक ये नियम लागू होता है क्या समझे ध्रुवदेव जी दोनों क्षेत्रों में संभव कोटि तक ये नियम लागू होता है इसको समझाओ संभवता पुरुषार्थ मांगती है समझाओ नहीं तो हम कैसे समझें कि आप समझ गए थे साधक जी आप समझाओ किसी भी सदगुण को ग्रहण करने में और दोषों को छोड़ने में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सदगुण मुझमें नहीं आ सकेंगे अथवा ये दुर्गुण मुझसे नहीं छूट सकेंगे और तो ये नियम ये बात हो गई अब अगली बात अब परंतु ये नियम एक संभव भी तक ही लागू होता है इसका भाव है कि आ, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं किसी समय पर जो ग्रहण न कर पाए सामर्थ्य भाव के कारण से एक तो ये भाव आ गया और दूसरे कुछ ऐसे दोष ऐसे भी होते हैं जो उनको न छोड़ पाए अब क्या समझ में आया कुछ कार्य ऐसे होते हैं हम उनको कर ही नहीं सकते उनके लिए कोई करने की योजना बना ले तो ये फिर उसकी अविद्यावाद अविद्या हो कुछ समझ में आया गुण भी ऐसे ही है और दोष भी ऐसी सीमा में है उन दोनों क्षेत्रों को इतने क्षेत्र को जो कि हम उनको कभी कर ही नहीं सकते उनको छोड़ देना चाहिए हम जिनको प्राप्त कर ही नहीं सकते हम जिनको छोड़ ही नहीं सकते समझ में आ गया है हम इतने बलवान शरीर से नहीं बन सकते कि भाई सौ कितना कहना चाहिए पर्वत को उठा लेंगे पर्वत को उठा लेंगे तो ये योजना बनाना बेकार की चीज है वो कहेगा कि मैं पर्वत को उठाना चाहता हूँ और ये काम करने का है उठा के तो इधर रख दे उधर रख दे तो वो कहीं नहीं कर पाएंगे आप हम सर्वज्ञ बनना चाहें तो नहीं बन सकेंगे हम ऐसा बनना चाहें कि जीवित रहते हुए जीवन भर कोई भूल ही ना हो कोई दोष ही ना हो ऐसा हम नहीं कर सकते आ गया समझ में ये विचार तीसरा जो विचार है जरा हानिकारक लग रहा है स्वामी कौन सा ये जो हम जीवन पर एक भी भूल ना कर पाए हाँ। मन में एक तुष्टि दोष आ जाएगा कि हाँ मैं दिन भर आज इतनी भूल है मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भूले करूं ही ना नहीं उसने देखना है कि वो कितनी भूलों को दूर कर सकता है उसके पीछे सोचेगा वो पहले नहीं वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है यहां तक पहुंच जाइए उसके आगे वो जीवित रहता हुआ छोटी से छोटी चीटी को भी नहीं मारे ऐसी भूल न करे ऐसा नहीं हो सकता आ गया समझ में हाँ जी आ गया समझ आत्मदेव जी को सुनाई दे रहा है या नहीं हाँ जी वेद मुनि जी हाँ समझ में आ गया कुछ लोग योगी को ईश्वरवत सर्वज्ञ मान लेते हैं या नहीं पढ़ा आपने कभी पढ़ाया नहीं पढ़ा नहीं समझे सुना है लोगों में आम ये मान्यता है हम्म। जनमानस में ये भाव रहता है कि ये तो योगी है इससे कोई भूल हो ही नहीं सकती और यदि ये करता है तो ये योगी नहीं है ऐसा हम्म। ऐसा कुछ ये सर्वज्ञ है ये भूत की भविष्य की वर्तमान की बातें भी जान सकता है ऐसी ऐसी भी मान्यताएं हैं लोगों की ये पता चल गया हमको यदि इन बातों को व्यक्ति न जाने तो ऐसी भूल कर सकता है वो कि मैं ऐसी वस्तुओं को गुणों को प्राप्त करूं उनके लिए प्रयास करता रहे वो और वो हो सकते नहीं तो बेकार समय गया उसका और वो उन दोषों को दूर करना चाहे जो दूर हो ही नहीं सकते इस रूप में इसका उदाहरण क्या बने दोबारा बतलाऊ वो ये चाहे कि मैं इतने वर्षों तक वर्ष लगाओ कुछ जन छोटे रहेंगे एक भी प्राणी को कष्ट कभी ना दू ऐसा हो नहीं सकता समझ में आ गया आप सार्वभौम वही तो बात कही जा रही है उसका उसकी सीमाएं ऐसी बनाई जाती हैं वो ये जानते थे ये व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार जितना पालन कर सकता है उतना सार्वभौम का अर्थ लेना चाहिए न कि कोई भी प्राणी को किंचित भी दुख नहीं देना ये सार्वभौम नहीं है इसका ये अर्थ ले सकते हैं स्वामी जी की जो जान होने वाली भूल है उनको तो मैं छोड़ दूंगा हाँ। और जो अनजाने में होने वाली है उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता ये तो सीमा बन गई कि सामर्थ्य और ज्ञान जहाँ तक मैं जानता हूँ और जानने में भी मैं करने में समर्थ हूँ नहीं समझे आप जानता तो मैं बहुत हूँ कि किसी प्राणी को दुख नहीं दू ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा नहीं आ गया समझ सारे भूमा आवर्तन का या नहीं आया Ah, वेद मुनि जी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इनको कम समझ में आया हो नहीं जी आ गया आ गया कभी कभी व्यक्ति उन दोषों को दूर कर सकता है वो स्वयं अपनी शक्ति सामर्थ्य और दूसरों से मिलने वाले सामर्थ्य को उपार्जित करके दोषों को दूर नहीं करता अब दोहराओ साधक जी क्या काम है कभी कभी व्यक्ति अब उन दोषों को दूर कर सकता है परंतु वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य और अन्यों से मिलने वाली शक्ति सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता जिसके कारण से इसलिए कारण से उतने क्षेत्र तक वो दोषों से नहीं छूट सकता यद्यपि वो छूट सकता था इतने क्षेत्र तक इसलिए जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है पर ये सर्वदा सर्वथा पाप पुण्य से रहित हो जाए अच्छा पापों से रहित हो जाए ऐसा नहीं हो सकेगा आ गया समझ में सर्वज्ञ हो जाता है अर्थात शरीरधारी होते हुए सर्वज्ञ हो जाता है इस मान्यता को मानने पर अवतारवाद के मानने में सरलता हो गई संदीप जी क्या समझे ध्रुवदेव जी क्या समझे योगी सर्वज्ञ हो सकता है ऐसा मानने से अवतारवाद को मानने में सरलता होगी क्या सरलता हो गई लोग अवतार को मानने लगे थे बस यहीं तक पहुँचे हाँ जी ईश्वर अवतार लेता है ये बात इससे स्पष्ट होती है तो- यदि मान ले तो अच्छा हो गई फिर क्या परिणाम निकला लोग मनुष्य को ईश्वर मानने लगेंगे यहाँ तक तो ठीक है और आगे कौन बढ़ा जैसा ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है उसमें वो आरोपित करेंगे और उसके अंदर जो अच्छे सदगुण जो उसने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हैं व्यक्ति ये मानता रहेगा कि मैं ये तो अवतार है ईश्वर है भगवान है मैं एक ये, ये दोष आ गया और कोई दोष ईश्वर को मानना छोड़कर मनुष्य की पूजा आरम्भ कर दे ये भी दोष एक आ गया और कोई उसकी मूर्ति पूजा भी आरम्भ हो सकती ये भी आ गया तो और बहुत से दोष आते ना सामने और क्या रह गया सोचेंगे अवतार हाँ वो तो उन्होंने बताया वो अपने दोहराया और बोलो ये बात इसको सिद्ध करेगी अवतारवाद वाली कि योगी यदि शरीरधारी होता वह सर्वज्ञ हो सकता है तो ईश्वर अवतार लेके वो भी सर्वज्ञ रह सकता है जोड़ लोगे ना इसको भी साधक जी जोड़ोगे जब ये योगी शरीरधारी होकर सर्वज हो सकता है हाँ तो फिर ईश्वर भी तो हम्म, शरीरधारी हो सकता है ना शरीरधारी होकर सर्वज्ञ रह सकता है सर्वधारी हाँ, होकर के सर्वे <laughs> देर में समय भाई बुढ़ापा तो नहीं सता रहा है तो अच्छा <laughs> ये ब्रह्मचारी हो सकता है प्राय ये सोच रहे हम आसाधक जी की तरह बूढ़े होंगे नहीं ऐसा दिमाग बना रहता है लगभग है ना ऐसा हम्म क्या जी नहीं है नहीं आप मंडन नहीं कर सकते परमाणु से पर दिमाग नहीं मानता होगा आप सिद्ध नहीं कर सकते परमाणु से कि हम बूढ़े नहीं होंगे पर मानसिक स्तर पर बौद्धिक स्तर पर वो बात दिमाग में नहीं बैठ रही है अभी नहीं होंगे थोड़े देर में होंगे ऐसे लगता है नहीं कई बार तो जचती ही नहीं कि इतने हट्टे कट्टे हैं हम कैसे बूढ़े हो जाएंगे ऐसे खाम का ऐसे ही बूढ़े कैसे हो जाएंगे स्वामी जी बूढ़े होने तक आप मन बुद्धि को जवान बना देंगे संस्कार शरीर को तो जवान नहीं बना सकते ये कठिनाई आएगी नशनाड़ियां काम नहीं करेंगे तो फिर कम समझ में आएगा भूल जाओगे फिर चक्कर आने लगेंगे उसको नहीं हटा सकते दूसरे पक्ष में और सुनिए जब व्यक्ति आशावादी होकर के गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयासशील होता है और दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है तो उस व्यक्ति में अनेक दोष आ सकते हैं और उन दोषों को दूर न किया जाए तो फिर भी उसकी उन्नति रुक जाएगी क्या समझ में आया जब व्यक्ति ऐसे ऐसे गिरदन ला रहे ना हाँ का पता ही नहीं चलता नहीं आया नहीं आया ये कहो तो फिर नहीं आया हाँ जी जब व्यक्ति पुरुषार्थी होकर गुणों को प्राप्त करना चाहता है और दोषों को छोड़ना चाहता है तो कुछ नए दोष भी उसमें आ सकते हैं वो दोष साधक जी क्या आ सकते हैं अब क्यों अभी तो काम करे कहीं न कहीं हाँ बोलो सबसे पहले तो अहंकार उभर सकता है हम्म। ज्ञान का बल का अधिकार गुणों अपने गुणों का स्वस्वामी संबंध जुड़ सकता है हम्म। और उसका अहंकार उभर सकता है और उससे प्रगति अवरुद्ध हो सकती है और इन्होंने जो बताया वो तो आ गया समझ में या नहीं आया दूसरी निराशा आ सकती है निराशा क्यों उसमें विफलता मिलने पर हाँ हाँ तो निराशा आ जाएगी हाँ जो कार्य कर रहा है हाँ, हाँ। उसमें विफलता आएगी हाँ। छोटी छोटी विफलता है आई इसके लिए तो समाधान कर दिया विफल होने पर निराशावादी नहीं होना चाहिए उसका तो समाधान कर चुके बाधा आती है लेकिन उतनी शक्ति जुटा नहीं पाते इतना आत्मविश्वास की कमी होती वो तो उसमें आ गया निराशावादी नहीं बनना चाहिए उसमें आ गया वो तो। इसमें नहीं ले सकते तो इसमें ये दोष आएंगे कि जब वो प्रयत्न करेगा गुणों की प्राप्ति में जितने गुणों को प्राप्त कर लेगा या करता रहेगा और जितने दोषों को दूर कर सकेगा उसके अंदर ये विचारधाराएं आएंगी ये गुण मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किए हैं ये दोष आएगा ये तो अहंकार में आ गया क्या है अच्छी तरह बोलो मैंने अपने सामर्थ्य से उत्पन्न किए हैं प्राप्ति की है जबकि उन गुणों की प्राप्ति में जीवात्मा का सामर्थ्य शक्ति थोड़ी सी है और ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य बहुत अधिक और वो मानता है मैंने इन गुणों को प्राप्त किया ये दोष आएगा न्याय पक्ष छूट जाएगा ऐसा मानने पर ईश्वर से संबद्ध होकर जो समाधि प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं होगी ऐसा मानने पर जो उसको और गुण मिलने चाहिए थे ईश्वर का मानने पर अपना न मान के ईश्वर का सामर्थ्य अधिक मानने पर वो गुण उसको प्राप्त नहीं होंगे ईश्वर की ओर से आ गया समझ में जैसे कि ईश्वर प्रणिधानात्वा ईश्वर प्रणिधान से क्या क्या हमको मिलता है कि ईश्वर हमारी समाधि ईश्वर हमारी समाधि कैसे लगवाता है वो गुण उसी समय आते हैं जब वो इस इस शक्ति सामर्थ्य को ईश्वर का मान के चलता है उसमें स्व स्वामी संबंध बना रहेगा जब स्व स्वामी संबंध बनेगा जिस स्थिति में उस स्वस्वामी संबंध से मिथ्या अभिमान उत्पन्न होगा मैं इतना बलवान हूं इतना बुद्धिमान हूं इतना शक्तिशाली हूं ये दोष आ जाएंगे अब आप अपने छोटे क्षेत्र में भी इन दोषों को देख सकते हैं आप जो आजकल काम करते हैं इन व्यवहारों में भी इन दोषों को देख सकते हैं व्यवहार काल में जो उपलब्धियां होंगी जो वो सफलता प्राप्त करेगा उन उन क्षेत्रों में वो ये मान के चलेगा कि ये उपलब्धियां ये गुण ये पदार्थ ये संपत्ति ये बल ये विद्या मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया ऐसा मान के चलेगा समझ में आ गया आगे बढ़ेंगे हम जब ऐसे मान के चलेगा वो स्वयं मानता हुआ लोगों से भी मनवाना चाहेगा फिर अब क्या समझ रहा है वेद मुनि जी लोगों से नहीं मनवाना चाहेगा जब अपने को अपने स्वामी क्या कहा लोगों से नहीं मनवाना चाहेगा उल्टा तो नहीं हो गया वो जब प्रेम इसको स्वीकार कर लेगा कानून से अच्छी तरह सुन रहा है या नहीं है वो जब प्रेम उसको स्वीकार कर लेगा तो अन्य लोगों से वो मनवाना नहीं चाहेगा मनवाना चाहेगा मनवाना चाहेगा उल्टा हो गया ना जो मैंने कहा उससे तो स्वयं जैसे मानता है कि मैं बलवान हुआ हूँ मैं बुद्धिमान विद्वान बना हूँ मैं धनवान बना हूँ स्वयं तो मानता है वो फिर लोगों से भी मनवाना चाहेगा कि लोग भी ऐसा माने इसने अपने सामर्थ्य से ही ये बल प्राप्त किया है अपने सामर्थ्य ही धन संपत्ति प्राप्त की है अपने सामर्थ्य से ही विद्या प्राप्त की है औरों से भी मनवाना चाहेगा ये दोष और जब लोग नहीं मानेंगे तो उनके साथ झगड़ा करेगा वो जब ऐसे झगड़े होने लगेंगे तो जो उसके मनवाने से मान जाएंगे उनमें राग पैदा होगा और जो नहीं मानेंगे उनमें द्वेष पैदा होगा तो राग जय कर्माशय और देश जय कर्माशय दोनों उत्पन्न हो जाएंगे कुछ जीवन की गहराई सूक्ष्मताएं कुछ समझ में आ रही है यानी आप लोगों को हम्म? आती है कुछ अब इन कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति विविध प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करता जाएगा और विवेक वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति नाम की जो चीज है जो अवस्था वो आज से चली जाएगी वो नहीं करेगा वो देखना हो तो आज के समाज में देख सकते हो राजकीय विभाग में देख सकते हो व्यवसाय के विभाग में देख सकते हो परिवारों में देख सकते हो भाई बहन का व्यवहार देख सकते हो सभी के व्यवहार में इस दोष जो कहते मिलेंगे आपको और आप अपना जीवन देखना चाहें अपना व्यक्तिगत आज आप में भी ये दोष मिलेंगे आप आज तक जितने पढ़े विद्या प्राप्त की जो गुण उन सभी गुणों को विद्या के विषय में ले या और कोई आपने ऐसी प्राप्ति की हो उसमें आपका दिमाग ऐसा काम करता हो कि वास्तव में मेरा तो नाम मात्र का सहयोग है ये सारा सामर्थ्य ईश्वर पर दत्त है जिससे मैं इतना बुद्धिमान इतना विद्वान या, या शरीर से बलवान बना हूं ऐसा दिमाग नहीं रहता क्या रहता है तो बताओ हाँ जी आत्मदेव जी कुछ कुछ रहता है स्वामी जी और काफी अंश तक नहीं रहता प्रथम उसको ये बात भी कम जचती है कि जीवात्मा को अकेले को खड़ा करो शरीर इंद्रिया विद्या बाहर के सृष्टि के पदार्थ सूर्य चंद्रमा एक अकेला जीव को खड़ा कर दो शरीर से दूर करो वो जीवात्मा इस स्थिति में क्या कर सकता है ये देखो बताओ आप क्या कर सकता कुछ नहीं, कुछ नहीं कर ये पता चल गया आप नहीं चला है अच्छा फिर तो फिर क्या करें अब लिखने वाले को भी तो ये ध्यान देना पड़ता मैं लिखते रहा हूं कभी सुनने वाली बात नहीं चली जाए उसको ये भी तो पकड़ना पड़ेगा साथ साथ दोनों करने पड़ेंगे इस प्रकार का विवेचन परीक्षण जो करता है उसका दिमाग काम करने लगता है बुद्धि काम करने लगती है कि निश्चित बात है कि जीवात्मा केवल एकाकी केवल अकेला न तो कोई बल का कार्य कर सकता और न कोई ज्ञान विज्ञान का कर सकता इतना ही सामर्थ्य है जीवात्मा तब इसका मिथ्याभिमान और स्वस्वामी संबंध हटता है नहीं तो नहीं हटेगा वो देखेगा कि न्याय तो यही है ये निश्चित न्याय है कि जीवात्मा केवल अकेला बिना शरीर इंद्रिया नस सृष्टि के कुछ भी नहीं कर सकता बल से कोई चीज को हिला डुला नहीं सकता इतना तो इसका बल है ज्ञान से किसी चीज को जान नहीं सकता ये क्या चीज पड़ी है इतना इसका ज्ञान है <laughs> अब देखो अभिमान कितना है व्यक्ति को Hmm? साधक जी कुछ आएगा समझ में हम्म अच्छा व्यवहार में उसको कुछ प्रयोग में ले आओगे आएगा कल में लाने का चलेगा इन बातों को समझने के लिए व्यक्ति को पीछे की सृष्टि जहां से आरंभ हुई थी वहां उसको अपनी बुद्धि ले जानी पड़ती है हमारे पिता के पिता पिता के पिता आगे बढ़ता जाता है दो धाराएं हैं या तो एक मत वालों की तरह ये मान लो कि पिता का पिता सदा से अनादिकाल से चले आ रहा है सृष्टि अनादि है या फिर कहो सृष्टि अनादि नहीं है एक समय ऐसा था ना सूर्य चंद्रमा कोई भी गोल खगोल नहीं था और न कोई माता पिता थे यहां जाएगा एक समय ऐसा था उस समय जीवात्मा जब शरीर आदि कुछ भी नहीं था तो जीवात्मा को अकेला निकालो अलग कर दो क्या स्थिति है उसकी आने वाले समय में कोई शरीर आदि नहीं रहेगा इस ओर जाना पड़ेगा उसको कोई शरीर आदि पदार्थ नहीं रहेगा तो फिर क्या जीवात्मा रहेगा तो वो क्या कर क्या कर पाएगा जब जीवात्मा एक सोचता देखता है ये मेरी आंख नाक नश नाड़िया हाथ पैर आदि आदि जब सृष्टि नहीं बनी थी उस स्थिति में मैं न कुछ बल से कर सकता हूँ उस स्थिति में न ज्ञान से कोई जान सकता हूँ और अपनी शक्ति से कोई चीज प्रकृति को लेके बना भी नहीं सकता हूँ बना भी नहीं सकता ये जीवात्मा का सामर्थ्य ज्ञान है ऐसा जानने से व्यक्ति का जो स्वस्वामी संबंध है वो खंडित हो जाता है छूट जाता है जीवात्मा जब ये देखता रहता है मैं जो अच्छे पदार्थों को अच्छे गुणों को प्राप्त करता हूं दोषों को दूर करता हूं उस स्थिति में मैं जीवात्मा जितना मेरा व्यक्तिगत सामर्थ्य है अपना जीवात्मा का उससे केवल उससे मैं न तो गुणों को प्राप्त कर सकता और न दोषों को दूर कर सकता ईश्वर की दृष्टि में ये न्याय है ये जो मैं सुना रहा हूं ऐसा मानना और इस न्याय को जीवात्मा विवेचन विचार करके स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर उसको जो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उसको ईश्वर की ओर से ज्ञान बल या आनंद जो कुछ मिलता है वो उसको मिलता है वो दूसरे को नहीं मिलता दूसरे व्यक्तियों को नहीं मिलता है और ये सामर्थ्य ईश्वर से उपलब्ध है मिला हुआ है पर वो जो ऊपर की स्थिति है वो ज्ञान जिससे समाधि लगवाता है ईश्वर वो नहीं मिलेगा जीवात्मा आज आप इस स्थिति को उत्पन्न कर लें जो मैं सुना रहा तो क्या ईश्वर आज आपकी समाधि नहीं लगवा सकता संदीप जी बोलो आप बोलो लगवा सकता है यानी है हाँ, हाँ तो फिर कठिनाई क्या है आपके सामने हम्म? आचार्य जी आते हैं वे की आंख बंद हो रही है क्या बात है <laughs> समाधि में पहुंच गए वैराग्य हो गया क्या अद्भुत अवस्था आ गई है ब्रह्मचारियों की नहीं समझे आप क्यों वहां तो व्यक्ति का हाव भाव लेन देन आकृति आकार प्रकार सारा बदल जाएगा समाधि में तो वो कहेंगे ये क्या हो गया ये पागल हो गए या समाधि लग रही है <laughs> क्यों जी अरे अच्छा, ये बताओ ये समय आठ तक या सीमित रखना है आगे बढ़ा भी सकते हैं कभी ऐसा ना हो आपके मन में ये रहे आप बढ़ा सकते हैं आगे हाँ बता देना कभी आप ये वो लाना देने लगे देखो समय का पालन तो स्वयं नहीं करते और उनको कहते हैं ऐसा पालन करो हमारी भी इच्छा है स्वामी आप मेरी बात को समझे समाधि लगने की विधि आपको आ गई तो इसमें रुकावट क्या है हाँ जी किसी को समझा दिया जाए कि ऐसी साइकिल चलानी चाहिए हाँ सब प्रकार से हाँ साइकिल दे दी जाए हाँ। या वो चला लेगा क्या हाँ। ये बार का प्रयोग इसमें आंतरिक प्रयोगों में नहीं हो सकता बार वाले प्रयोग तो आपका वाणी का प्रयोग शरीर का प्रयोग ये तो सिखाया जा सकता भाई ऐसा बोलो जैसे आपको कहते हैं ऐसा बोलो प्रेम से बोलो ये बार के प्रयोग ऐसा लेन देन करो जो बार के प्रयोग है ना उपहार के प्रयोग तो बताए जा सकते हैं पर बौद्धिक प्रयोग जो होता है ना ये बौद्धिक क्षेत्र वाला तो बुद्धि से पकड़ना पड़ेगा और बुद्धि से ये बताया जा रहा है कि आप बुद्धि से इस बात का खंडन करो कि ये मेरे सामर्थ्य से नहीं हुआ ये बुद्धि से होगा और मैं आपको बताऊंगा आप पकड़ेंगे तो पकड़ के मेरी बात का प्रयोग करना आपका काम है जैसे और विषयों में आप बहुत पकड़ देंगे मैं बताऊंगा तो पकड़ लेते हो अनेक विषयों में अनेक विषयों में पकड़ लेते हो आप फिर ये विषय को नहीं पकड़ते इतना ही अंतर है दोनों में कितने विषय मैं बताता हूं और आपको पकड़ लेते हो और उसको प्रयोग में भी ले आते हो बौद्धिक स्तर पर पकड़ते हो जैसे वो विषय पकड़ लेते हो वैसे ये विषय भी पकड़े बुद्धि से पकड़े जाएंगे जैसे मैंने बतलाया आप परमाणु को लो परमाणु से ये देखो कि सृष्टि जब नहीं बनी थी तो क्या स्थिति थी बुद्धि से ही आएगा समझ में सृष्टि नहीं बनी थी उसको दिखाया तो नहीं जा सकता <laughs> सृष्टि बात तो आती है समझ विचार करते हुए भी ना उसमें क्या होता है वो परीक्षण में कमी रहती है परीक्षण करना और मानना क्या समझे आप परीक्षण करना और जो कहते हो मानना ये कमी यहां रहती है जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैंने प्रयोग किए थे उस समय जब वैराग्य की अवस्था थी जैसे खेत में मैं रहता था तो ये प्रयोग मैं कहता था ये मेरा जो कहते हैं मेरी भूमि है या मेरा शरीर है ये बात जो है किसी की भी नहीं कोई भी नहीं रहता किसी की भी नहीं है कोई व्यक्ति वैसा नहीं है जो कहता हो मेरी भूमि है उसके साथ जाती आती हो अच्छा ये कहते हैं मेरा शरीर है इसको मैं भी नहीं बना सकता माता पिता भी नहीं बना सकते तो हम मेरा क्यों कहते हैं इसको आगे बढ़ा मैं ये बाजरा बोते हैं यहाँ बाजरा बो रखा था मुझे याद है ना ये घटना तो बाजरा बो रखा था तो हम पक्षियों चिड़ियाओं को उड़ाते थे वहां खाने जाए कभी जब ये सिद्ध हो गया आज इस दिन कि ये बाजरा भी तो ईश्वर का है बाजरा भी तो मेरा नहीं है फिर तू क्यों उड़ाता है मैंने क्या किया उस दिन के पीछे एक चिड़िया नहीं उड़ाई मेरा मतलब जो बात समझ में आए उसको वैसा का वैसा मानो तो आगे बढ़ जाएंगे नहीं मानोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते लोग तो इसको कहेंगे ये तो बड़ी मूर्खता की बाजरे को खा जाएंगी चिड़िया कोई भी की हो मूर्खता की हो वैराग्य जो सत्यता उसमें आके ठहर गई अब चाहे बाजरा जाए या रहे बाजरे की चिंता नहीं है वास्तव में हमने सिद्धांत की चिंता है कि सत्य बात यह है कि जब ये मेरा कहना गलत है तो तू मेरा मेरा क्यों करता छोड़ इसको तो व्यक्ति जैसा समझ में आए वैसा उसको माने और जो सत्य है उसको पकड़ देवे असत्य को छोड़ देवे तब प्रगति होगी नहीं तो नहीं होगी उसमें जो हानि होगी हानि आएंगी आपके सामने हानि जितनी होगी मरने तक की हानि आपको सहन करनी पड़ेगी एक सीमा याद रखिए आप मौत की हानि आपके स्वीकार है मृत्यु आपको स्वीकार है यदि मृत्यु स्वीकार नहीं है तो आप विवेक वैराग्य के क्षेत्र में नहीं उतर सकते इतना स्वीकार करना पड़ता है सृष्टि में जितनी भी हानि और लाभ हो सकते हैं जितनी घटना घटती है वो आपके लिए बिल्कुल सरल है वो स्वीकार है आप सृष्टि में जो जो घटना घट सकती है मरना जीना रोगी बीमार धनवान बलवान भूखा प्यासा ये मेरे सामने संकट नहीं था क्या घर वाले मुझे एक एक टुकड़ा नहीं देंगे और मैं एक कमा नहीं सकता ये मेरे सामने प्रश्न नहीं थे सारे के सारे इनको सबको ला करके देखा गया कि हम तैयार हूं मरने के लिए इतना ही नहीं और सुना देता हूं आप जिस समय यह प्रश्न आगे खड़ा हुआ कि मुझे कहा गया यदि आप कुछ काम ही नहीं करते तो रोटी जो है वो कहां से खाएंगे कहां से आएंगे तो मैंने कहा मैं रोटी आपसे नहीं मांगूंगा आप बताइए और इसके लिए मैंने क्या किया आगे बढ़ा मैं हो सकता है मुझे रोटी मांगनी पड़े तो घर वाले से तो मांगने का निर्णय दे दिया नहीं मांगूंगा तो कभी कभी मैंने क्या किया तीन दिन तक एक व्रत ले लिया पानी पीना है थोड़ा सा जैसे दूध मिल जाता ना पानी मिला हुआ थोड़ा बहुत वो ले लेना है पानी पीना है और तीन दिन तक कोई अन्न नहीं खाना चार दिन कभी पांच दिन जहां तक मुझे याद है एक बार तो सात सप्ताह तक ऐसा किया ये सारी आपत्ति व्यक्ति को अपने ऊपर लेके चलना पड़ता है मरना उसके लिए कोई घटना विशेष नहीं है वो मर चुका है एक प्रकार से संसार को मार चुका है जो मर चुका और मार चुका उसको डरना क्या यद्यपि आज का कोई ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति कहेगा ये सारी पागलपन की बातें हैं ये जो सुना रहे हैं कहेगा नहीं कहेगा कह सकता है वास्तविकता यही है कि ऐसी स्थिति आएगी ऐसी स्थिति से ही विवेक वैराग्य होता है इसी से समाधि होती है अन्यथा समाधि नाम की चीज धरती पर नहीं उतर सकती जब बताने वाला गुरु हो सिखाने वाला हो बताता जाए और वो मानता जाए तो इसमें सरलता सुविधा रहती है अकेला व्यक्ति जब खड़ा है जैसे मैं था उसमें तो बहुत कठिनाई होती है सिखाने वाला हो बताने वाला हो यहाँ ऐसा करो यहाँ ऐसा करो और उसको खाने पीने की व्यवस्था भी देता रहे कल्पना करो खाने पीने की व्यवस्था भी उसके लिए करता रहे उसको बताता रहे यहाँ ऐसा सोचना यहाँ ऐसा सोचना तो बड़ा भारी अंतर आ जाता है आपने यदि अपनी बुद्धि में सरलता बनानी हो तो विवेक वैराग्य का जो प्रसंग आया ना जो उदाहरण दिए हे उपाधेय शून्यता आया ना वो हे उपदेश शून्यता का एक क्षेत्र ही तो सुना रहा हूं मैं आपको वैराग्य के तत्परम पुरुष ख्याते और दृष्टानुविषय वशीकार संज्ञा वैराग्य तो ये जो दृष्टांत आपको वैराग्य के मिलेंगे ये उसी स्थिति को बताते हैं तो हम ये नहीं कहते ये नहीं मानते कि उसको भोजन ही नहीं खाना पीना चाहिए ये नहीं मानते तो एक तो व्यक्ति ये जानना चाहता है इस तय में जाना चाहता है वास्तव में अंतिम स्थिति क्या क्या बन सकती है जो बन सकती है उसका देखता फिर देखता है अब मुझे शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ खाना चाहिए कुछ पीना चाहिए इसके लिए भी उसको कुछ करना पड़ता और जिस समय ये स्थितियां आती हैं उसके सामने अनेक तरह के लोग उससे संपर्क में आ सकते हैं एक ऐसा संपर्क हो सकता है उसको खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहे एक ऐसा संपर्क हो सकता है उसको शिकाने बताने वाले मिलते रहे और जब अकेला होता है व्यक्ति अकेले में भी दो स्थिति भिन्न भिन्न है उसने अंगों को पढ़ा उपांगों को पढ़ा दर्शनों को पढ़ा उस समय तो पढ़ता रहा कुछ पढ़ने की योग्यता बनाई सिद्धांतों का ज्ञान हो गया समझे और फिर वैराग्य हुआ ऐसा मान के चलो और उसको इस वैराग्य को सिखाने वाला तो गुरु नहीं था परंतु उसने ऋषियों के ग्रंथों में जो सारी पढ़ी लिखी है उसको अधिक कठिनाई नहीं होती समझ में आया